और दो दरिया बराबर नहीं होते एक ऐसा मीठा है कि उससे प्यास बुझती है जो पीने में खुशगवार है और दूसरा कड़वा नमकीन और हर एक से तुम मछलियों का ताजा गोश्त खाते हो और वो जेवर निकालते हो जो तुम्हारे पहनने के काम आता है और तुम कश्तियों को देखते हो कि वो उस दरिया में पानी को फाड़ती हुई चलती हैं ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और ताकि शुक्रगुजार बनो